गण धर्म प्रेमी सज्जनों प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है अल्प शब्दों में थोड़े शब्दों में हम कहते हैं कि वो समस्त दुखों से छूटना चाहता है और नित्य आनंद दुख रहित आनंद सुख को प्राप्त करना चाहता है जैसे वो दुख से छूटना चाहता है क्लेशों से बाधाओं से उसी प्रकार से दुख के उत्पादक जितने भी कारण है साधन है उनसे भी छूटना चाहता है तीन विभाग बन गए जैसे वो नित्य आनंद को स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है वैसे ही वह नित्य आनंद के जो साधन है उनको भी प्राप्त करना चाहता है इन चार विभागों में पूरा पदार्थ मात्र वस्तु मात्र पूरा विश्व विभाजित हो जाता है कोई वस्तु कोई पदार्थ कोई चीज शेष बाकी नहीं रहती चार ईश्वर आप ध्यान देंगे हजारों की बात छोड़ो लाखों वैज्ञानिक लोग पढ़ने पढ़ाने वाले अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए हैं और लक्ष्य की पूर्ति वही होगी जाने न जाने ये अलग बात है कोई व्यक्ति वो लक्ष्य उसका वही रहेगा सबका एक समान लक्ष्य सबका है प्राणी मात्र का इसमें कोई मतभेद नहीं मिलेगा समस्त प्राणी मात्र दुख से कलेशों से बंधन से छूटना चाहता इसमें मतभेद नहीं मिलेगा संसार किसी मत का मानने वाला संप्रदाय का मानने वाला ईश्वर को मानने न मानने वाला किसी की भी कल्पना कीजिए आप इस विषय में एक मत रहेगा वो एक ही मान्यता बनेगी समस्त तो दुखों से छूट जाना जैसे दुखों से छूटने की बात है वैसे दुख के कारणों से छूटने की बात में भी एक मत होगा इसमें मतभेद नहीं मिलेगा आपको तीसरी बात नित्य आनंद स्वतंत्रता शांति बाधा रहित जीवन दुख रहित आनंद की प्राप्ति है उसमें मतभेद नहीं मिलेगा तो आनंद प्राप्ति के साधनों में भी मतभेद नहीं मिलेगा तो चार ऐसे विभाग हैं संसार के अंदर चारों के अंतर्गत पूरा पदार्थ मात्र जो जानना है जनाना है करना कराना सब कुछ आ जाएगा चार को जानने से सबको जाने लगा परंतु समय रखना आप ध्यान देंगे हजारों मत हैं विविध प्रकार के संप्रदाय हैं अपने अपने ढंग से वो तल्लीन है लगे हुए हैं ईश्वर भौतिक वैज्ञानिक है आप अपने ढंग से वो भी लगे हुए हैं पर इनमें सारी इन दोनों प्रकार की परंपराओं में भौतिक वैज्ञानिक हो एकाध को छोड़ के और संप्रदाय के लोग वैदिक रीति से इनकी तुलना की जाए कि ये कहां पर खड़े हैं ये कहां पर पहुंचे हैं तो उसका उत्तर एक ही होगा इन चार बातों को जानने वाले ना तो संप्रदायों में है चारों बातों को ठीक जानने वाले और वैदिक परंपरा के वैज्ञानिक को एक आध को छोड़ के भौतिक वैज्ञानिकों में भी नहीं है तो अब हम जो है कैसे सोचते हैं कैसे विचारते हैं हमको क्या सोचना जानना चाहिए तो उत्तर एक ही होगा इन चार बातों को जानना चाहिए चार बातों के विषय में विचारना चाहिए चार बातों को समझ के जीवन में ले आना चाहिए ये हमारा क्षेत्र है बस मुख्य और सब गौण है अब थोड़ा सा ये वेद के आधार पर वेद क्या निर्णय देता है उसमें से कुछ भागों को हम लेते जाते हैं और वेदों को इतना महान बड़ा क्यों माना जाता है इस मंत्र में अभी जैसे स्वाध्याय किया आपने इसमें बहुत सी बातें हैं मोटी भाषा में कर करके देखते जाइए और इसको सुने फिर इसको पढ़ें कई बार सोचे तो मंत्र में आपको ठीक समझ में आने लग जाए न का अर्थ है नहीं ये सीधी भाषा है क्या समझ में आया नानक चंद जी न का अर्थ है हिंदी में हमको बोलते हैं न या नहीं और गुजराती में क्या बोलते हैं नथी ये हो और आगे तम दूर वाले के लिए हम क्या कहते हैं वह है जी दूर वाले के लिए और पास वाले के लिए क्या कहते हैं हिंदी में तो कहते हैं यह और दूर वाले के लिए क्या कहते हैं वह और गुजराती में क्या बोलते हैं आ ये का अर्थ क्या है, यह गुजराती में क्या बोलते हैं आ और दूर वाले के लिए क्या बोलते हैं ते हाँ तो संस्कृत में बोलते हैं न का अर्थ है नहीं ये सीधी सरल भाषा है तम का अर्थ है उसको तम का अर्थ है उसको विदाथ विदाथ का अर्थ है विद जो बनाते हैं विद विद्वान सुना होगा ये तो आपने विद्वान बनाते नहीं विद विद्वान बनाते हैं ना शब्द ये विद्वान है, है जी न तम विदात है तो ये कहता है संसार के लोगों तुम उसको नहीं जानते क्या समझ में आया बोलो दोहरा लो न तम विदात है हाँ जी नानक सिंह जी बोलिए जो मैं बोलू वही दोहरा दो संसार के लोगों तुम्हें उसको नहीं जानते न तम विदात यह यह संस्कृत में कहते जो को यह जो हम जो बोलते हैं संस्कृत में यह इमा इमा करते ये सारा का सारा संसार यह इमा जजान है जो इस सारे की रचना करता है जजाने है ना जनन जनम्या जनन ऐसा तो सुनते ना जना इमा जजान है जो इस सारी सृष्टि की रचना करता है तुम उसको नहीं जानते अब पूरी पंक्ति ले लो पीछे से क्या कहोगे न तम विदाथ है यह इमा जगान है संसार के लोगों तुम इसलिए दुखी हो पीड़ित हो बाधित हो उसको तुम्हें किसको जो सारी सृष्टि की रचना करता संचालन करता इसको फिर प्रलय कर देता हमको अच्छे बुरे कर्मों का फल देता उसको तुम नहीं जानते इसलिए दुखी हो अब आप किस किस का नाम लो नाम लेने से बुरा भी मान जाता है व्यक्ति और वो क्या करता कहते मेरा नाम लेके बोलेंगे मैं जाऊंगा ही नहीं उपदेश में इससे कोई डरता हो तो उसका नाम नहीं लेंगे और जो कहता है नहीं मेरा नाम लेके बोलो तो उसके लिए और अधिक बोल देंगे योनानंद सिंह जी आप कौन से उम्र से हैं आपके विषय में कुछ कह सकते हैं आप है जी तो नानक चंद जी दुखी क्यों है या वासुदेव जी दुखी क्यों है ये कह दो न तम तो जाने ऐसे ईश्वर को वो नहीं जानते ही दुखी है रामचंद्र जी दुखी वासुदेव जी भी दुखी और एक बीच में बैठे ये भी दुखी न तम जजान यह नहीं न तम विदाथ है तुम उसको नहीं जानते किसको यह इमा जजान है जो पूरी सृष्टि की रचना करता है अब ध्यान देंगे आप जो लोग ये मानते हैं सृष्टि अपने आप बन गई अमीवा नाम का जंतु कीड़ा था उससे फिर आगे बढ़ के मछली बन गई विकसित होते होते फिर वो बंदर बन गया फिर उसकी पूछ घिस के मनुष्य बन गया ये लोग दुख से नहीं बचेंगे कभी कभी नहीं ये इमाज है ये सृष्टि को जो रचता उसको नहीं जानते वो लोग उसकी तो सत्ता को भी नहीं मानते वो लोग और जो व्यक्ति ये मान लेते हैं कि इसको रचने वाला चलाने वाला ईश्वर है वो दुखी नहीं होते सफल हो जाते कारण इसको जो जान लेते हैं कि कितने भी भाग लंबा चौड़ा विषय है इसको ये मानने पर कि ईश्वर का बनाने वाला है ईश्वर का संचालन करने वाला है जब व्यक्ति देखता है कि जितनी चीजें मुझे मिली हैं शरीर और बल विद्या धन वो ईश्वर की दी हुई है उसको ना मोह रहता ना अभिमान होता जैसे नानी जी को बहुत नानी जी को बहुत मोह रहता है दोनों ही नहीं रहते जो सारी रचना का बनाने वाला निर्माण करने वाला जो आपके पास सोना चांदी जो भी कुछ है आंख नाक जो शरीर है जो आपने बड़े बड़े भवन खड़े किए ईश्वर की शक्ति प्रदत्त पदार्थों से किए या नहीं मानते आप ऐसा आपके मन में हो सकता आपने कमाई की है इतना धन कमाया दुकान पर आपने इन हाथों से कमाई की है कौन से से इन आंखों से देखा है और दूसरी आंखों से इन कानों से सुनाया किससे इन टांगों से चले किससे कमाई की है आपने ये बताओ शरीर इंद्रियों से कमाई की है शरीर इंद्रिया ना हो तो आप एक टका नहीं कमा सकते या कमा सकते है जी तो इतनी लंबी बातें हैं आप सोचते जाइए कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य से एक बाजरे का दाना पैदा नहीं कर सकता बस इतनी बात नहीं आगे बढ़ जाओ सारे संसार के प्राणी मिलकर के एक मकई का दाना पैदा नहीं कर सकते अपनी शक्ति ईश्वर को साथ मत जोड़ो जिब व्यक्ति का ये दिमाग बुद्धि काम करने लगती है ये ऐसी बात है बस उसके सामने ईश्वर ईश्वर दिखाई देने लगता है बस जो कुछ है वही है आदि मूल परमेश्वर है ऐसा सोचना आरंभ कर देता है नास्तिकता दूर होती जाती है पाप कर्म दूर होते जाते हैं विषयाशक्ति दूर हो जाती होती जाती है ईश्वर की ओर आकर्षण होता है अब जो नहीं जानता वो दुखी रहता है न तम विदाथ ये इमा जजान है सारी सृष्टि की जो रचना करता है उसको आप नहीं जानते इसलिए दुखी हो अन्य अन्य का अर्थ क्या होता है दूसरा क्या समझ में आया अन्य का अर्थ है वही अन्य व्यक्ति को बुला लो हिंदी में बोलते हैं ना दूसरे को बुला लो और अन्य व्यक्ति को बुला लो गुजराती में क्या बोलोगे आप हैं बीजो व्यक्ति हैं या कुछ और बोलोगे हैं अन्य को बुला लो गुजराती में क्या बोलोगे बीजान ने ने बनेगा वहां और आगे बुला भी लो बुला भी लो तो अन्य का अर्थ है संस्कृत में अन्य दूसरा हिंदी में भी उसी को अन्य अब ये अन्य क्या कहता है अन्य का अर्थ है दूसरा ये आया समझ में वो बताना ये चाहते हैं याद रखना जिस ईश्वर को जाने से व्यक्ति सुखी होता है वो हमसे दूसरा पदार्थ है हम नहीं है वो अन्य अब क्या समझ में आया आपने सुना होगा बहुत कुछ सिखाया जाता है सोहम सोहम उसका क्या अर्थ है स का अर्थ है वह सो हम मैं वही ईश्वर हूं मैं वही ईश्वर हूं ऐसा सिखाया जाता है आप जो बीच में बैठे ये बुरा ना माने तो इन्हें हम पूछेंगे आप बताओ हम ईश्वर का अंश है या नहीं इनमें से उत्तर कोई देना चाहेगा देगा हम ईश्वर का अंश है या नहीं है अंश है ना आप क्या मानते हैं हम ईश्वर का अंश है ना या नहीं है अलग है आप तो दोनों मंत्र मिला ना ये कहते हैं अंश है और वो कहते हैं अंश नहीं है तो एक बात इनमें से दोनों झूठ होंगी या तो या एक सत्य होगी एक झूठ होगी पर दोनों सत्य नहीं हो सकते क्या समझ में आया नानक जी जरूर आइए मैंने क्या कहा दोनों में से एक सत्य हो सकती है और और तो वाह बुद्धि आपकी चल रही है हमारे साथ में कोई पता चलता सुनने वाला ने पूरी बात सुनी है और उत्तर दे दिया इसका मतलब बात को पकड़ के चल वेद के प्रतिकूल है वास्तविकता नहीं है ये सत्य सिद्धांत नहीं है हम अलग वस्तु है पदार्थ चीज ईश्वर अलग वस्तु अब क्या समझ में आया अन्य हम ईश्वर नहीं है ईश्वर हम हम नहीं है हम ईश्वर नहीं है तो ईश्वर हम नहीं है इसलिए कहा कि ईश्वर हमसे अलग पदार्थ है हाँ एक बात ध्यान से सुना अलग होते हुए भी एक जगह पर रहते हैं लोहा और अग्नि को ले लो लोहा अग्नि एक स्थान पर रहते हैं जैसे लोहा और अग्नि पर अग्नि अलग पदार्थ है लोहा अलग पदार्थ रहते एक जगह पर इसी भांति परमात्मा सर्वत्र रहता है पर हमसे ईश्वर अलग पदार्थ है हम ईश्वर से अलग पदार्थ है ऐसा जानना चाहिए तो ये बात समझने की है यदि हम इसको नहीं समझते तो हम दुख से नहीं छूट पाएंगे फिर कहा युष्माकम अंतरम बबू है अब बात ये कहते हैं कि वो जो ईश्वर जो है सर्वत्र व्यापक है तो भी आप उससे नहीं मिल पाते क्या समझ में आया ईश्वर सर्वत्र है जहां हम हैं वहां ईश्वर है अंतरम्भ भूवत फिर भी हम उसको पकड़ नहीं पाते उसको उद्बुद्ध करके या समाधि लगा के आनंद नहीं ले पा रहे हैं ये बात कार ने एक बात समझाने का प्रयास किया इसी ढंग की उसने एक दृष्टांत दिया कि अक्षेत्र जो भूमि के तल भाग को उदर भाग को अंतस्थल को वो नहीं जानता वह खेती करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है समझदार नहीं है वो कहना चाहता है भूमि के तल भाग में 20 फुट नीचे चले जाइए इतना बड़ा खजाना है यदि उसको भूमि से खोद के निकाल लिया जाए तो आनंद ही आनंद मिले उसको सारे जीवन भर हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अक्षेत्र भूमि के जो तल भाग को अंतर्निहित उसके गर्भ में क्या क्या पदार्थ है उसको जो नहीं जानता वो खेत के स्वरूप को नहीं जानता यहां पर खेत ये हमारा खेत है ये क्षेत्र है ये शरीर जो है हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र को जो हम नहीं जानते हम भी अज्ञे हैं अर्थात ज्ञानवान नहीं है तो भूमि में दबे हुए धन संपत्ति को जो खेती करने वाला नहीं जानता जीवन भर चालीस पचास वर्ष हल चलाता है आठ उंगल चार उंगल भूमि को फाड़ता है और रोटी कपड़ा मकान का गुजारा कर लेता है यदि अंदर यदि वो ढूंढ लेता भूमि को तो इतना बड़ा खजाना मिल जाता वो कृत कृत्य हो जाता सफल हो जाता पर वो अक्षेत्र है वो भूमि को नहीं जानता अब इसको यहाँ हम इस भूमि को नहीं जानते शरीर रूपी भूमि को और खाते हैं पीते हैं सोते हैं उठते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं और करते व्यापार फिर उठ के लग जाते हैं फिर उठ के लग जाते हैं फिर उठ के लग जाते हैं लगे रहते हैं पर इसमें जो खजाना दबा हुआ है इस शरीर में ये मूर्ख व्यक्ति जो इसको नहीं जानता नानक चंद जी हो चाहे वासुदेव जी हो <laughs> सारा जीवन बिता दिया ये इसको नहीं जानता अक्षेत्र जी जीवन खपा देता है भूमि के चलाते हल जोड़ते खेती थोड़ी थोड़ी टुकड़ा रोटी कमा लेता है इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति अविद्या से परिपूर्ण व्यक्ति इस शरीर रूपी भूमि को नहीं जानता जीवन खपा देता है और जैसे भूमि में धन दबा हुआ उसको हाथ नहीं लगता जो भूमि को नहीं जानता ऐसे परमात्मा रूपी खजाना इस भूमि में दबा हुआ ये मूर्ख इसको नहीं जानता खेती वाले तो वहां भूल करते नानक सिंह जी आप कहा भूल कर रहे हो ये बताओ वो तो भूमि के स्वरूप को नहीं जानते और आप अपने इस खेत ये खेत है इसको नहीं जानते अंतरम बभूवन अंतर है मिल नहीं रहे दोनों निहारेण प्रावृता निहार कोहरे को कहते हैं लोक में जानते हैं कोहरे को या नहीं जानते हुँ? हम्म? कभी कभी दुर्घटना होती है और पर्वतों पर सूक्ष्म बादल छाते हैं तो वो कोहरे के रूप में जैसे होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं कुछ सूक्ष्म बादल होते हैं और वो बादल सूक्ष्म होके जब उसका पानी गिरता है तो वो कोहरे के रूप में आता है बादल ऐसे होते हैं इतनी दूर का वृक्ष दिखाई नहीं देता वो कोहरा कहलाता है तो उससे दुर्घटनाएं होती है यहां कोहरे का अर्थ है निहार का अर्थ है अज्ञान कोहरे का दृष्टांत देती जैसे वहां कोहरे से वस्तुएं ढकी हुई दिखाई नहीं देती ऐसे व्यक्ति के अंदर अज्ञान नाम का एक ऐसा पदार्थ है अज्ञान नाम का एक दुर्गुण है अज्ञान नाम की एक चीज है उससे वो ढका हुआ है ये न तम्बीदात है ईश्वर को नहीं जानता उसको सोना जानता है चांदी जानता है बैंक का हिसाब जानता है दुकान की चीजें जानता है अपने सब कुछ कपड़े जानता है अपने कमरे को जानता है अपना टेलीविजन में क्या क्या यह जानता है भगवान को नहीं जानता आई बात समझ में अज्ञान से ढका हुआ इस ज्ञान का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है पर थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए जिन विषय भोगों में महादुख है उन विषय भोगों में सुख समझता है आप देखेंगे तो आप इसी की चपेट में मिलेंगे आप पांच ज्ञान इंद्रिया हैं पांच उनके विषय हैं उन पांच विषयों के भोगों में व्यक्ति तल्लीन रहता है जीवन खपा देता है पर समझ रखना ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में आके देखा कितने ऋषि हुए जो गृहस्थ आश्रम आके फिर उच्च कोटि के योगी बने वहां बड़े आदर्श नियम होते थे उस समय भला अड़तालीस वर्ष तक विद्या पढ़ते रहना गुरुकुल में और फिर भी वहां करवाना वो एक आध संतान पैदा करेगा करेगा तो नहीं तो तत्काल फिर मोड़ खा जाएगा अड़तालीस वर्ष तक जो सुखपूर्वक जीवन को देख लेता है वो गृहस्थ की ओर जाना ही नहीं चाहेगा पहले तो और चला भी गया तो उसको ऐसे चपेटे लगेंगे कहेगा मैंने भूल कर दी वहीं से मोड़ खा जाएगा और नाने चंगदी इतना जा चुके ये अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है गृहस्थ को और उसको वासुदेव जी छोड़ने के लिए तैयार है थोड़े थोड़े अपने पीछे बैठे वो तो थोड़े थोड़े घर से दूर रहने लगे हैं जसू भाई थोड़े थोड़े रहते हैं वो भी अब वो भी घर को चिपटे हुए हैं अब सारी बातें होने पर अब भी नहीं छोड़ रहे और उनके पास मतलब कोई पुत्र होंगे और पुत्रियां और नानक जी के ना पुत्र ना पोत्रिया तब भी घर को नहीं छोड़ रहे कुछ नहीं अज्ञान है ढके हुए लोगों के काम और ये ब्रह्मचारी ये तो आपको इसलिए कि इनको तो प्रतिदिन कह, कहते बताते हैं कई दिन हो गए बताते आपके ऊपर इसलिए जोर दिया जा रहा और इसका अर्थ ये नहीं समझना ये बातें आप पर ही लागू होती हैं ये सारे ब्रह्मचारी इसी चपेट में आएंगे यदि इन्होंने योगाभ्यास में गति नहीं की तो जैसे आप चपेट में हैं ऐसे ही सारे चपेट में आएंगे इनमें कोई नहीं बचेगा वो मैं दृष्टांत सुना था गीता फैल गई सत्संगी थे कुछ सत, एक व्यक्ति अपने अलग अलग होने लगे वो दूर जाने लगे वो दूर करने लगे गीता मुझको दे दो मैं स्वाध्याय किया करूंगा और साधना भी करूंगा योगाभ्यास वो गीता लेके चला गया वो अलग चला गया उसने जाकर के अपना स्वाध्याय आरम्भ किया उसको चूहा काटने लगा चूहा काटने गया तो भाई बिल्ली पालो बिल्ली पाले बिल्ली दूध से प्यार करती है बिल्ली का पूर्ति करो दूध के लिए गऊ ले ली गऊ ले ली इसको घास डालो ये करो वो करो ये बड़ी कठिनाई है फिर किसी ने कहा कोई माता जी को लगाओ और वो घास वास देती रहेंगी और आपको दूध मिलता रहेगा वो देती रही देती रही कालांतर में उस गीता वाले का विचार बदलते बदलते बदलते वो गृहस्थ में जाने का बन गया ग्रेस वाले संबंध उस माता जी से जोड़ दिए कच्चे बच्चे पैदा हो गए आई बाढ़ बाढ़ आई तो सब कुछ बहने आप भागो दौड़ो किसी को कंधे पर ले रखा है किसी को उंगली पकड़ रखी है फिर आ गया वही व्यक्ति जो गीता ली थी जहां से तो कहने ये क्या हुआ ये गीता फैल गई <laughs> ये गीता फैल गई तो वे आपकी तो गीता फैलती जाती है आए थे तो किसी काम के लिए गीता फैल गई उसमें फंस आप <clears throat> तो ये व्यक्ति अज्ञान से कैसे ढका हुआ रहता है बड़ी एक सूक्ष्म स्थिति है अज्ञान अविद्या व्यक्ति को उल्टा दिखाता है उल्टा दिखाता है सांप पड़ा है झोल भोले अंधेरे में थोड़े और कहते बड़ा चाया तो हमारे पास रस्सी ही नहीं थी और आज ये उठा लेता हूं और बांधूंगा कपड़े सुखाऊंगा <laughs> लगाया हाथ काट दिया मौत को प्राप्त होगा ऐसी रस्सी मेरी निहारे प्राप्त जो सांप उसको रस्सी समझ बैठा ये ये विषय भोग को सुख समझ बैठा विषय भोग में सुख है कई बार बात आती है सामने और नानंद सिंह जी कहा करते हैं कि बात ऐसी है कुछ और भोग लेते हैं कुछ और भोग लेते हैं फिर फिर फिर छोड़ देंगे भोगते भोगते मैंने कहा आप जितने भोगोगे और उतना ही फिर इसका दंड भोगना पड़ेगा जितनी दूर उल्टे चले गए उल्ट के लौट के आना पड़ेगा जितने भोग भोगेंगे उतने संस्कार पड़ते जाएंगे उसको हटाने के लिए उतना ही कार फिर और लगाना पड़ेगा जितने भोग भोगोगे उसके हटाने के लिए उतना ही भयंकर तप तपना पड़ेगा आप बुद्धिमान कहता है जो तप तपना ही पड़ेगा तो अभी क्यों नहीं छोड़ दो नहीं एक कथा आती है रोचकता से सुनाते हैं लोग कि भाई एक बुढ़िया थी यात्रा में एक अपनी गठड़ी पोटली माने चल रही थी और किसी बुद्धिमान व्यक्ति का माता जी यहाँ चोरों का क्षेत्र है ये जो है यहाँ चोर छोड़ेंगे नहीं जो कुछ होगा लूट लेंगे आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ यहाँ से बुढ़िया ने सुना ही नहीं चल रही आपने मस्तानी बना नहीं सुना सुना ही नहीं तो काला अंतर में उस मार्ग में आई उस क्षेत्र से जब निकलने की तो चोरों ने पकड़ लिया रोक लिया जितनी उसकी गठड़ी में जो कुछ माल मसाला जो भी कुछ था वो ज्यादा का ज्यादा छीन लिया और बुढ़िया खाली हो गई फिर बुढ़िया ने दौड़ लगानी आरम्भ दौड़ी बुढ़िया तो व्यक्ति कहने गया माता जी आप भागी तो फिर गठड़ी खुस जे बाली मैं पहले भाग के निकल जाती तो अच्छा था अब छीन लिया सब कुछ अब आप दौड़ लगा रही हो तो भैया तो लुट पिट के वासुदेव जी लुट पिट के भागेंगे जी इस ग्रह से दूर हो जाओ इसको छोड़ दो बड़ा दुखदाई है अब इनके ना तो हाथ पैर काम करेंगे ना आंखें देखेंगे ना इनका दिमाग ठीक रहेगा और ये भागते दौड़ते रहेंगे जब गठड़ी खुश जाएगी जो भागेंगे आपकी भी यही बात है जब बीच में बैठे नहीं कि आपके इनके ऊपर आपके ऊपर भी यही नेम लागू होगा ऐसे नहीं है अज्ञान इसी का नाम है अविद्या इसी का नाम है जो व्यक्ति को दिखता ही ऐसा है उल्टा दिखता है अब वस्ते वैसे व्यक्ति खाता पीता है इंद्रियों के विषयों का भोग उसको ऐसा दिखता है कि ये बहुत अच्छे हैं और ये भी दिखता है मैं इनको भोगता रहूंगा तो मेरी तृष्णा समाप्त हो जाएगी होता और उठा है वो जैसे जैसे उनको भोगता जाता है उसकी वासना भोगने की तीव्र और इच्छा बढ़ती जाती और इच्छा बढ़ती जाती और इच्छा बढ़ती जाती अब याद रखना उन भोगों से संस्कार पड़ जाते हैं भोग भोगने से भोग भोगने से संस्कार पड़ जाते हैं वो संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ते पीछे लगे रहते हैं चोरी करने का अभ्यास जिसका हो गया बीस बरस तक चोरी की खाया पिया अब वो चोरी छोड़ दी सत्संग के कारण अब है बाहर से चोरी छोड़ने पर भी उसके मानसिक रूप में चोरी नहीं छूटी वो चोरी जो कि तू करता रहेगा या नहीं होगा आजा एक व्यक्ति थे पचास के साठ वर्ष के हो सकते वो बानपुर स्वरूप में आ गए घर भी छोड़ दिया ऋषि उद्यान अजमेर में देखा सुना हो वहां रह रहे थे और वो एक दिन कहने लगे अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने लगे कि देखो जी बात ऐसी है मैंने घर छोड़ दिया परिवार से दूर हो रहने लग गया बालक बच्चे छोड़ दिए पर स्वप्न में मेरे जो गंदे बेचारे मेरा पीछा स्वप्न में नहीं छोड़ रहे अब क्या करो आपका भी नहीं छोड़ेंगे क्या समझ रहे पहले तो व्यवहार में नहीं छोड़ते ये पीछा व्यवहार में नहीं छोड़ते अब व्यवहार में छोड़ भी दिया जैसे तैसे करके सोने के पश्चात आपको वही चोरी करनी पड़ेगी वही विषय भोगों में पड़ना पड़ेगा वो छोड़ेंगे ही नहीं अब बताओ क्या करोगे जितना आगे भोगते जाइए संस्कार पढ़ते जाएंगे और उनको कितना दूर करने में समय लगाना पड़ेगा कल्पना नहीं कर सकते आप इसीलिए ऋषि ने एक बात कही परिणाम दुख भोगना पड़ेगा परिणाम आगे बढ़ता जाता है भोग विलास की इच्छा बढ़ती जाती है ताप दुख जब उसमें कोई विरोध करता है उसका रुकावट डालता है तो उससे संतप्त होगी उसको समाप्त करना चाहता है दुखी रहता है संस्कार संस्कार पड़ गए वो पीछा नहीं छोड़ते न चाहते हुए भी उभरते हैं बहुत परिश्रम हो गया इतने वर्ष हो गए फिर वही के वही संस्कार कुत्ते की पूछ देखी आपने प्राय प्राय होती है वो ऐसे मुड़ी हुई रहती है नहीं देखी कल्पना करते हैं कि व्यक्ति ने रबड़ की वो नली लीर उस पूछ को सीधा करने के लिए नली में परो दिया ऐसा रखे एक मास दो मास तीन मास छह मास हमने कहा वैसी की वैसी इसको संस्कार कहते हैं ये संस्कार कहलाता है नहीं समझे आप वो पूज वैसी की वैसी इस व्यक्ति को कितनी शिक्षा दो कितना सत्संग करो वो संस्कार भोग वाले संस्कार जो कहते बड़ा दुखी है बड़ी यदि पहले वो सोचता मैं ना पढ़ता इसमें तो अच्छा था और क्या करूं निराश हो जाता है हताश हो जाता है और कहता जी ये जन्म तो गया आगे देख लेंगे <laughs> अगले जन्म में भी फिर वही बन गया नानक चंद और फिर भोग होने गया फिर आया सत्संग में बूढ़ा होकर के फिर कहने का जी ये जन्म तो गए अगले में देख लेंगे ये पता नहीं लाख जन्म हुए करोड़ हुए कितने होते चले आ रहे ये वही चक्कर में वही आत्मा है वही सृष्टि है वही पांच विषय है और वही नानक चंद है वही वासुदेव है वही मैं हूं और वही आप या नहीं है है ना वही के वही यदि हम मुक्ति से लौट के नहीं आए तो जो सृष्टि को एक अरब छियानवे करोड़ कुछ लाख वर्ष हो गए कितने जन्म होंगे मनुष्यों का दे घोड़े के कुत्ते के बिल्ली के आज तक हम उसी चक्कर में हैं और फिर देख लेंगे आगे हो जाएगा आगे हो जाएगा कोई बात नहीं अब वो चक्कर आज तक चला आ रहा है ये क्या जीवन है बुद्धिमान व्यक्ति पुरुषार्थी व्यक्ति त्यागी व्यक्ति क्या करता है पता लग गया कि बात ऐसी है बस वही पत्थर की लकीर है उसके सामने एक बार उसको बता दो ये ठीक है ये ठीक है ये गलत बस सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में जो उद्यत रहता है वो तो वही आज ही कहेगा नानक सिंह जी वासुदेव जी जो मेरे घर में फोन कर दिया कि जी मैं तो यहाँ ही रहने लग गया हूँ अपना घर का काम आप संभालना मैं मैं वानपस बनूंगा दूरभाष से कर दो ऐसे कर दे और सारे परिवार कार के पीछे कार आएगी ये क्या हो गया भाई क्या हुआ बताओ और फिर कहीं विवेक जी ने कुछ उपदेश दिया स्वामी ने दिया होगा देखो सारा बिगाड़ते थे कहा के साथ हुआ हमारा घर ही बिगाड़ दिया इन्होंने <laughs> जी है सुधार की बात तो दूर रही एक कथा आती है अपने स्वामी सर्वदानंद जी की वो अच्छे वैराग्यवान साधु पौराणिक ढंग से मानते चले आ रहे थे गृहस्थ में थे पहले बताया जाता है कथा के माध्यम से जैसा वृत्तांत हमने सुना कि भाई उन्होंने एक सन्यासी बनकर के नाटक खेला नाटक जानते हो ना वो बन गए सन्यासी और अपना नाटक खेला जैसे सनीमा घर में खेलते हैं या अपना जो बनाते हैं वो खेलते रहे रात भर जैसे अपना होता है वो सन्यासी बने हुए थे थे वो गृहस्थ में और प्रातः काल हो गया चार बज गए फिर हो सकता पांच हो गया और जो भी समय होता भाई चलो शौचादी जाओ जंगल में अपने गांव के लोग होते हैं जंगल की ओर चले जाओ वो चल पड़े चल पड़े तो उन्हीं उन्हीं कपड़ों में जो सन्यासी के कपड़े थे वस्त्र थे वो भी जंगल की ओर चल पड़े चल पड़े तो लोगों ने महाराज जी उनका जो भी नाम होगा अब तो उतार दो वो तो नाटक के कपड़े थे तो सन्यासी बने तो अब तो उतार दो उनका हो गया सो हो गया भाई बन गए अब अब कपड़े नहीं उतारे वहीं से जो के तो सन्यासी अब ये नानक चंद जी वासुदेव जी बने थे देख लो हो गया सो हो गया वहां सन्यासी बन गए वो ऐसे सत्य कर राही व्यक्ति होना चाहिए नहीं तो क्या है ये व्यक्ति कुछ भी नहीं ये आर्य समाज के दस नियमों में से चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के शून्य बुद्धित रहना चाहिए यदि व्यक्ति इसको मानता है स्वीकार करता तो वास्तव में मनुष्य है वो व्यक्ति अपने मनुष्य के लक्ष्य पर पहुंच सकता है वो अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है उसमें वास्तविकता है और जो सत्य के ग्रहण करने सत्य के छोड़ने मुद्दत तो नहीं है उसमें मनुष्यपन विशेष नहीं है साधारण स्थिति हो सकती है वास्तविकता से दूर है वो व्यक्ति स्थिति यही है व्यक्ति ये क्या है ईश्वर की रचना अनादिकाल से प्रवाह है जिसको बोलते हैं बनाना बिगड़ना चलना आता है आज भी है ये आगे भी रहेगी आप कैसे ठेकेदार पर बैठे मैं यहीं रहूंगा मेरा परिवार भी यहीं रहेगा मकान भी ऐसे ही रहेंगे दरवाजा भी ऐसे ही रहेगा मैं आता जाता भी ऐसे ही रहूंगा और बस इधर उधर होना नहीं है ये अविद्या अविद्या है ऐसा दिमाग बनाती है और जो व्यक्ति कहता क्या ये तो इतने तो भूकंप में मर गए इतना ये हो गया ये जो अल्लाह नेहरू चला गया वो चला गया इंदिरा गांधी चली गई एक के पास एक तड़का भी नहीं गया अच्छा नचिकेता की तरह कहता है देखो गुरु जी बात यह है कि तो घास जैसे पैदा होता है और फिर थोड़े दिन में एक पत्ता नहीं दिखाई देता ये जीवन तो घास जैसा है नचिकेता तो ये कहता है घास जैसा ये जीवन घास आज है कल नहीं है <laughs> कहता अच्छा भाई हो गया सो तो हो गया <laughs> बस ऐसे अभ्यास करना चाहिए बहुत हो गया ना समय इतना इतना बहुत हो गया और बनाऊ <laughs> तो वो जो है व्यक्ति का सोचने का निहारे न प्रावृता अज्ञान से ढका हुआ व्यक्ति है न तम विदाते इसलिए ईश्वर को वो नहीं जानता नहीं जानता अज्ञान से ढका हुआ इसलिए दुखी है और जल बहुत बोलता है बात बहुत करता है <laughs> उल्टा सीधा बोलता है कभी झूठ बोलता है दुकान पर बैठ के इधर उधर की बात करता है उल्टा कहते ये झूठ बोलना छल कपट करना ये कहता ये जो है ये व्यक्ति जब तक इनको बोलता रहेगा तब तक वो ईश्वर को नहीं जान पाएगा और दुखी रहेगा है जी आसु त्रिप बस पेट पूर्ति में लगा हुआ है प्रातः काल खाओ फिर थोड़ी देर में फिर खाओ दुकान पर जाओ जब खाओ कोई प्रसाद बढ़े तब खाओ फिर एक बजे खाओ अब बकरी की तरह खाता है बकरी को जानते या नहीं जानते है जी जानते बस देखी तो होगी बाजार में आती जाती है बकरियां बोलो खाने के विषय में शायद नहीं देखा होगा आपने नहीं देखा खाने के प्रातः काल बकरी को छोड़ दो खेत ध्यान देना वो खाती रहेगी मेंगन करती रहेगी खाती रहेगी आप चार बजे सायकाल छह बजे तक ऐसे ही खाती रहेगी ऐसे मेंगन करती रहेगी ऐसे खाती रहेगी दिन भर खाती रहेगी बकरी का दृष्टान दिया जाता बकरी कितने खाता रहता एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं एक बात मैं आप लोगों की परीक्षा करना चाहता हूं करो कि बकरी को कोई व्यक्ति घास में छोड़ के रोक नहीं सकता बकरी को संयम में वो कुछ नहीं खाए घूमती रहे बकरी खाएगी कहता नहीं हम ऐसा कर सकते हैं बकरी को भी नियंत्रण में ला सकते बकरी का मतलब ये मन है आपका बकरी मन को बकरी के वो है ना खाना पीना उसने क्या किया उस व्यक्ति ने बकरी को खिलाता पिलाता और फिर छोड़ देता बाग बगीचे में और जिसको खाती के नाक पर डंडा लगाता जिसको खाती रोज ऐसे कर वो खा खिला पिला के बगीचे में छोड़ देता और वो जिसको खाने लगती नाक पर डंडा खाने लगे नाक पर डंडा करते करते करते करते ऐसा बना लिया उसने डंडा हाथ में रखा अपना कहेंगे आप देखो बकरी कैसे नहीं हटेगी आपको बताओ फुलबाड़ी कहां पर है उसने छोड़ दी बकरी और वो डंडा लेके खड़ा रहे आगे बकरी ने किसी की ओर भी ऐसे देती नहीं डाली जी तो व्यक्ति दिन रात अपने पेट पूजा में लगा रहता है स्वार्थी की पूजा खाने पीने में लगा था है होश ही नहीं है मैं क्यों आया था कैसे जन्म हुआ आगे क्या होने वाला नहीं खाते पीते रहो और आगे बात ही नहीं सोच रही हाँ जी उक्त फिर पढ़े लिखे की ओर संकेत दे दिया इसमें यहाँ कहते पढ़ते बहुत है लोग बहुत कुछ व्याख्या करते हैं बहुत चर्चाएं करते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं वेद में ये लिखा है दर्शनों में ये लिखा है उपनिधों में ये लिखा है सत्यार प्रकाश में ये लिखा बहुत प्रशंसा करता है और आचरण उसे उठता कहता ये भी दुख से नहीं जोड़ सकते अज्ञान इनको भी घेरे हुए है जी तो मंत्र में आया कुछ समझ में नहीं आया ये तो नहीं कहोगे कठिन है जी न तम विदाथ तुम उस ईश्वर को नहीं जानते यह इमा जाने सारी सृष्टि की रचना करता पालन करता बिगाड़ता है जी अन्य वो व्यापक है पर जीवात्मा से अलग पदार्थ है प्रकृति से भी अलग पदार्थ है उसको एक मत मान लेना ये भूल मत करना अंतरम बभू है और पास रहते हुए भी हम उसको नहीं जान पा रहे अज्ञानता के कारण ये बढ़िया विचित्र अवस्था है अंतर पड़ा हुआ बीच में हम ईश्वर के साथ रहते हुए भी ईश्वर से नहीं हो पा रहे संबद्ध नहीं हो पा रहे क्यों हेतु बताए अज्ञान से हम घिरे हुए जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं इस जन्म की वासनाएं हैं वो उस अज्ञान से ढके हुए हैं बोलने में संयम नहीं है उल्टा सीधा बोलते रहते अपने इंद्रियों के भोग उनकी पूर्ति में दिन रात प्रयास करते खाने पीने में लगे रहते असुतृप है स्वार्थी दिन रात अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहे उनको होश ही नहीं है इसलिए इस विद्या को सीखना चाहिए जानना चाहिए तो जान करके अपने प्रयोग में लाना चाहिए बुलबुले की उपमा दी जाती है बुलबुला देखा हुआ वर्षा काल में बूंदे पड़ती हैं तो बुलबुला आता है ऐसे देखो तो वो नहीं मिलेगा उस देखो तो वो बुलबुला नहीं मिलेगा कि बुलबुले जैसा जीवन है तो क्या दो पड़ गए हो <laughs> क्यों बेचारी आपको भी समझ में आया नहीं आया है जी या नहीं आया या ये मान लिया कि आज का उपदेश उनके लिए है कैसा मानते बताओ तो अपने लिए मानते हैं हाँ तो कई बार ऐसा होता है बोलने वाला खूब सज्जा तैयारी करके लाता है अच्छा भाषण तैयार करता है और ये कहता है वो मानता है कि जितने मेरे सामने बैठे हैं मैं इनके लिए सुनाने के लिए आया मेरा कोई मतलब नहीं भाषण है एक और सुनने वाले क्या सोचते हैं जो नगर के लोग हैं गांव के लोग जो आए ही नहीं बेचारे उनके लिए बात की जा रही है हमारे लिए नहीं है तो ऐसा मत कर लेना ठीक है अब विराम